और कभी ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला किसी कौम को गुमराह कर दे उसके बाद कि वो उन्हें हिदायत दे चुका हो यहाँ तक कि वो उनके लिए वो चीज़ वाजे कर दे जिनसे वो बचें बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है